पर यहाँ पर श्री ऋषभ देव जी ने इन सिद्धियों को त्याग दिया बोलो भक्त वत्सल भगवान की अब श्री ऋषभ देव भगवान जी जंगल में गए जंगल में आपस में लकड़ियां टकराई और जंगल में आग लग गई और यहीं से श्री ऋषभ देव जी अपने नित्य धाम को चले गए बोले ऋषभ देव भगवान की कांत वेद कुटक के राजा हर हर ये कौन है यही हर हर जिन्होंने जैन धर्म को लिया यह भागवत में लिखा है पांचवें स्कंद के सत्य अध्याय के श्लोक नंबर नौ में इन्होंने एक नया धर्म लिया है वो लिया है नागा बाबा किसकी नकल कर रहे हैं ये सब श्री विश्व देव जी की नकल कर रहे हैं रूपा जी ने तो बड़ी निंदा करी है इस लोक करीम की बोले नहीं हम वैष्णव के अंदर ऐसा नहीं ऋषभ देव जी परम धाम को चले गए हम भगवान को नमन करते हैं इनके बड़े पुत्र भरत महाराज जी राजगति पर बैठे राजा भरत ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और इनके पांच पुत्र हुए सुमति रस्त्रभृत सुदर्शन अवर्ण धूम्र केतु इनके बेटा हुआ राजा भरत ने सोचा शरीर नाशवन और ये राज्य सदैव तो साथ नहीं रहेगा तो पुनः आश्रम चले गए तपस्या करने के लिए जिसे कहते हैं हरि क्षेत्र जहाँ गंडकी नदी बहती है इस नदी का चमत्कार क्या है तुलसी का पत्र डालो भगवान शालिग्राम जी बाहर आ जाएंगे इतनी मानता बताइए और शालिग्राम की प्राण प्रतीक्षा नहीं होती है आप कोई भी विग्रह रखोगे उसमें प्राण प्रतीक्षा होती है शालीग्राम के नहीं है क्योंकि शालीग्राम तो साक्षी है भगवान और शालीग्राम की पूजा बहुत मुश्किल है हम नहीं रख सकते बड़ा मतलब पवित्र रहना पड़ता है शालीग्राम जी के तो पुनः आश्रम में तपस्या करने चले गए एक हिरणी पानी पी रही थी वो गर्भवती थी एक शेर की आवाज सुनी हिरनी घबरा गया जैसे नदी को लांगा तो छलांग मारने से हिरनी के पेट से जो बच्चा था वो नदी में गिर गया और वो हिरनी एक गुफा में जाकर मर गई भरत जी देख रहे हैं दौड़ कर गए हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया मिलाया और पालने लग गया अब हुआ ये भजन करते हुए हिरण का बच्चा कमर में ऐसे कुछ चिपकता तो महाराज जी भजन छोड़कर उसमें लग जाते ध्यान करते तो हिरण के बच्चे के चक्कर में लग जाते भोजन करते तो साथ खिलाते इस तरह से श्री भरत जी का मन हिरण में लग गया एक वक्त हिरण का झुंड आया और वो हिरण का बच्चा चला गया भरत जी बोले कितना बेवफा निकला मैंने से तो पाला पोसा बड़ा क्या मुझे छोड़कर चला गया उसके ढूंढने के चक्कर में पैर फिसला खाई में गिर गए और मरते समय चिंतन हिरण का था इसलिए भरत जी महाराज जी का दूसरा जन्म हिरण का हो भरत जी महाराज जी को याद था हिरण की योनि में भी मेरे तो भजन करने आया था और मैं हिरण के चक्कर में फंस गया तो हिरण की योनि में भरत जी को वैराग्य हो और खाना पीना इन्होंने छोड़ दिया शरीर का त्याग किया अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हो पिताजी इनके थे बोले बेटा पढ़ का से कबूतर भरत जी सोचते हम पढ़ेंगे का से कबूतर और मर गए तो कबूतर बन जाए पढ़ते नहीं पिताजी गायत्री मंत्र का दिन करवाते पूर्व तो उसे भी नहीं पढ़ते थे बोले क्यों बोले भूर भुआ स्व करते ही अगर शरीर त्याग दिया तो भूर तो नीचे चले आएंगे भुआ पृथ्वी में रह जाएंगे स्व के चक्र में स्वर्ग में लग जाएगा नहीं किया बाप ने बोला तू तो मूर्ख है तू तो जड़ है इसलिए नाम पड़ गया जट भर समय आने पर पिता की मृत्यु हो गई पर पिता ने अपने दूसरे पुत्र को कहा था कि तुम्हारे छोटे भाई का कुछ कल्याण कर देगा भाइयों ने बहुत बहुत पढ़ाना चाहिए पर नहीं पढ़ा भाभियों को बड़ी तकलीफ होने लगी भाभिया कहती लो हम अपने स्वामी को बिदाम का हलवा खिलाते ये डेढ़ पसंद और ये सूखी रोटी खाकर मोटा खा जाए पर काम धंधा नहीं करता तो इसको काम पर लगा देना चाहिए भाइयों ने कहा देख भाई तू पढ़ता तो नहीं है ना वेद का अध्ययन कर रहा है इस ऐसे क्या कर तू खेती में जा खेत में वहाँ खेतों की रक्षा महाराज जी बिंदास से चले गए महाराज बैठे महाराज जी खेत में बैठे बैठे सोच रहे हैं हम किसे मना करें हरी की ही चिड़िया हरी को ही खेत हरी की ही चिड़िया एक मोरी चिड़िया हरे हरे खेत अरे साहब किसे मना करें खेत भी हरी का चिड़िया भी हरी की तो मना किसे करें खाओ दवा कर खाओ उस समय एक डाकुओं का सरदार का उसे संतान नहीं होती उसने माँ भद्रकाली को कह दिया माँ भद्रकाली को हमको छोरा दे दे हम तुमको छोरे की बलि दे देंगे मानो भद्रकाली भूखी घड़ी हो भद्रकाली को खाना पीना नहीं मिल रहा हो भद्रकाली किसी की बलि के लिए अटकी हो ये दशा हमारे लोगों भगवान एग्जाम होने वाले हैं दस किलो की टेप अगर मैं आया जहाँ वो चार पांच नंबर में आ गया बोले भगवान सॉरी क्षमा ला बस तो आया ही नहीं इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया भगवान को भी रिश्वत दी जाती है और यही इस डाकुओं के सरदार की होगी ए भद्रकाली दे मुझे छोरा मैं तुझे बलि दूंगा ठीक है भद्रकाली ने नहीं दिया उसके भाग्य में था उसे मिल गया चांदी ले चाहे सोना बहा ले किस्मत का लिखा हुआ लेना वो है खिलाड़ी तू है खिलौना जीवन है तेरा होली का होना हंसना या रोना तिलक लगा ले चाहे गंगा बहा ले नहीं तिलक लगा ले चाहे गंगा नहा ले किस्मत का लिखा हुआ लेना इसके घर में छोरा हो गया अरे सरदार तो खुश हो गए भद्रकाली ने दे दिया बोले जाओ किसी को पकड़ कर लाओ बलि देंगे एक बच्चे को पकड़ लिया खिलाया पिलाया बच्चे की बेहस और उस बच्चे को पता लग गया कि मुझे तो बलि देने वाले बच्चा वहां से भाग गया सरदार नाराज हो गया अरे तुमसे बच्चा ना सलमा संभला अरे मूर्खों अमावस आने वाली है जाओ किसी को लेकर सैनिक ढूंढने के लिए खेतों में भरत जी नजर आ डाकू खुश हो इसको देखकर जल भरत जी डाकू ने कहा राज्य हो महाराज सरदार भी खुश होंगे काली माता भी खुश हो जाएगी बोले क्यों बोले मोटी ताजी बली मिल जाएगी हे बाबा चलो बोले कहा बोले सेवा करेंगे आप ऐसे चलो अब भरत जी को तो पता ही नहीं कौन सी सेवा होगी खूब खिलाया पिलाया भरत जी बोले जो हो प्रभु अब तक तो सूखी खाते थे अब तो देसी घी के पकवान खा रहे हैं हुआ ये कि अमावस की जो थी, थी शरीर में हल्दी गुलाल लगा दिया सुंदर माला पहना दी तिलक लगा दिया और भद्रकाली की मूर्ति के सामने उन्हें बिठा दिया बोले बाबा नमस्कार करो भद्रकाली को ठीक नहीं लगा ये बात पहले हमें बुरी लगती थी लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमने कहा वाकई में ये ठीक नहीं है मैं मथुरा में था तो वहाँ मेरे संग माता जामवती थी तो माता जामावती मेरे संगी थी तो मैं वो जिस पत्र पर जो याद में बनाया है कि कंस ने जो बच्चों को पटका था तो जब वो छोरी को पटकने लगे तो अष्ट भुजा रूप धारण कर प्रकट हो गए तो सुंदर पीतल की मूर्ति थी आठ भुजा वाली को मैं जब तिलक लगाए हुआ गौमुख मेरे गले में घंटी थी तो मैं नमस्कार करने लगा तो माता जी ने कहा आप नमस्कार इनको मत करें मैंने क्यों ये तो देवी है बोले प्रभु आप इन्हें नमस्कार मत करें तो मैं क्यों नमस्कार नहीं करूँ इन्हें बोले इनको बुरा लगेगा क्या लगेगा बात बड़ी बारीकी वाली है घमन नहीं है इससे बुरा नहीं है इसलिए शास्त्र को रहे हैं उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया लेकिन बात में समझ में उस वक्त तो मैंने उनकी नहीं मानी तिलक लगा हुआ था हमने नमस्कार किया सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो हमने तिलक लगाया इसका नाम क्या है केशवाय नवाह क्या नाम है ये भगवान केशव है और ये इनके चरण है ये भगवान को हमने कहा बिठा रखा है माथे पर भगवान के आगे सब झुकते भगवान किसी के आगे नहीं झुकते हैं तो जब हम तिलक धारण करते हैं तो तिलक लगाकर जब देवी देवता को नमस्कार करते हैं तो उनको लगता है बुरा अरे मेरे आगे कुछ झुक रहे हैं ये हमारे अंदर भी ऐसा इसे फिरकेबाजी नहीं कहते इसे कहते मर्यादा क्या बताएगा कोई भी छोटा बड़े के आगे नमस्कार नहीं कर सकता और कोई भी बड़ा छोटे के आगे नमस्कार नहीं कर सकता उनके चरणों में नहीं घुस सकता तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ जट भरत जी भगवान के भक्त थे और जो देवी देवता जो सारे लोग भगवान के आगे झुकते हैं तो भगवान के आगे झुकने वाले को इन डाकुओं ने भद्रकाली के चरणों में झुका दिया भद्रकाली को लगा तो बहुत बुरा कह लिया अब तो सरदार ने चमचमाती हुई निकली तलवार निकाली भरत जी ने बोला ये क्या बोले मालपुड़े को फ्री के थोड़ी दे हम तो तुम्हें बलि देने जा रहे हैं अरे जड़ भरत जी बोले संसार तो बड़ा स्वार्थी है अब भद्रकाली ने सहा नहीं किया पहले एक वैष्णव को मेरे चरणों में चुका दिया ये अपराध है और मेरे सामने इसका वध करने जा रहे हैं मूर्ति चटकी मूर्ति के दो टुकड़े हो गए और भद्रकाली मैया प्रकट हो गई बोलो भद्रकाली मैया की प्रकट हो गई महाराज और भद्रकाली मैया के पीछे नौ दायने होती हैं बगैर कपड़ों के शराब पीना मांस खाना क्योंकि असुरों की पत्नियां हैं भद्रकाली तेज गति से आंखों को इधर उधर घुमाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी सरदार ने कह दिया कि भद्रकाली हमारी बलि से बड़ी प्रसन्न हो गई है अब भद्रकाली से नहीं रहा गया अरे मूर्ख मैं शक्ति से नहीं मैं तो भक्ति से प्रकट होती हूँ तू मेरे सामने एक भक्ति बलि देने जा रहा है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी तेरा नाश कर दूंगी तेरे सेवों का नाश कर दूंगी भद्रकाली ने अपनी तीर की तीर की तलवार को निकाला और बासानी उन सब सब उनके डाकुओं के सरों को काट दिया उनकी जब गर्दनों को काटा उनके धड़ से खून की पिचकारियाँ निकलने लगी उस वक्त भद्रकाली के पीछे जो नौ डायने थी वो उस रथ में स्नान करने लगी मदिरा पीने लगी खून को पीने लगी खूब नाचने लगी इस तरह से भद्रकाली को श्री जनभरत जी महाराज जी ने नमस्कार किया भद्र मैया ने कहा अरे मुझे क्यों नमस्कार करते हो हम सब परमात्मा का हंस है उनकी आज्ञा का पालन करते हैं हम उनके सेवक हैं मैं भी एक सेवक हूँ और मैं भी तुम्हारी सहायता कर रही हूँ उस परमात्मा की इच्छा से इसलिए हम सबको किसे नमन करना चाहिए भगवान को नमस्कार करना चाहिए इस तरह से आशीर्वाद देकर भद्रकाली मैया अंतर ध्यान हो गई और जन भरत जी ने कहा कि अब घर नहीं जाएंगे जन भरत जी ने अपनी यात्रा आगे लिखी आगे जा रहे थे सिंधु सुधीर देश के राजा रहुगण ये पालकी पर जा रहे थे कपिला आश्रम ब्रह्म विद्या सीखने के लिए तो पालकी उठाने वाले चार लोग थे एक बीमार हो गया तीन लोग बचे तो तीन लोग पालकी को नहीं उठा सकते थे राजा को सड़क पर ही बिठाए रखा पालकी को उस वक्त इन्हें जल भर की नजर आ गया सेवकों ने कहा राजा अगर आपकी इच्छा हो तो इस सेवक को जोड़ दे उन्हें हाँ लगा दो ए भैया यहाँ जी बोलिए सिंधु सो विदेश के राजा रहो गणे इनकी पालकी उठाओगे उन्हें रख दो कुछ चूटियों का झूठ जा रहा था पाल के कंधे पर श्री जड़भर जी ने छलांग मार दी पालकी में बैठे राजा रघुगल का सर पालकी से लगा घुसे आगे लाल हो गई तुरंत पालकी से मुख, बाहर निकला हे मूर्खो देख कर नहीं चल सकते क्या हा? अभी तुम्हें बताता हूँ तीन सेवकों ने कहा महाराज हमें भी दोष देगा ये जो नवीन भक्त को जोड़ा है अपराध किसने किया और आप हम सबको पूरा भला कह रहे उस वक्त जो है राजा रघुवर ने जड़ भरती को कोसना शुरू कर दिया कैसे कोसा ओहो तुम तीन तो अभी पाल उठा रहे हो ये तो मुझे बेचारा पता नहीं कहाँ से उठा कर लेकर आया कितना दुबला पतला है मुझे तो उस पर दया आती है जबकि मोटे ताजे थे जनवर जी समझ गया मुझे ही घेरा और किसको कहेगा अपनी मस्ती में मस्त लिया कांधे पर पालकी फिर चल दिया फिर आगे चूटियों में ढूंढ जा रहे फिर छलांग मार अब तो राजा रघुकर समझ गया किया कराए किसी का हे मूर्ख तू मेरे पल पराक्रम को नहीं जानता तुझे ऐसा जल दूंगा तेरे शरीर के अगे अंग को काट दूंगा तू मुझे नहीं समझता जल भरत जी ने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा संतों पर श्रद्धा रखता है ब्रह्म विद्या सीखने जा रहा है पर घमंड रजोगुण है क्योंकि राजा है इसलिए रजोगुण ये तो मुझे ऐसे कहते रहेगा मुझे तो कुछ होने वाला नहीं पर इसे नरक मिल जाएगा और जब इसे नरक मिल जाएगा तो संतों को कोसने लग जाएगा इसलिए अब इसका भला करना चाहिए अपने जीवन में कभी भी जनभरत जी ने के नहीं कहा पर आज बोले राजा तुम किसे दंड दोगे तुम किसके शरीर के टुकड़े कराओगे ना मैं पतला ना मैं मोटा ना मैं छोटा ना तो मैं लंबा ना तो मैं जन्म लेता हूँ ना तो मैं मरता हूँ तो तुम किसे मारो राजा रहुगढ़ चौंक गया बोले बात तो वेदांत की कर रहे हैं अब राजा रहुगढ़ ने टुकड़ टुकड़ देखा जब ध्यान से देखा तो जड़ भर का यज्ञो पवित्र होने लगा होती ना नजर पटपटाने लगा तुरंत रघुगण जी पालकी से उतर कर नमस्कार करने लगे हे ऋषिवर कोई देवता तो नहीं है तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए आप कौन हो मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता रहुगण कह रहा शिव के त्रिशूल से नहीं डरता यम के दंडे से नहीं डरता इंद्र के वज्र से नहीं डरता डरता हूँ मैं ब्राह्मण के अपराध रहुगण जी की बात सुनकर जन भरत जी मुस्कुराए बोले राजन बात सुनो हूँ मैं ब्राह्मण और वो श्लाघ वाला क्रोधित ब्राह्मण है शांत शिरोमणि डरो मत मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा अब राजा रघुगण को सकून मिला राजा रघुगण ने कहा कि ब्राह्मण देव हमें एक बात समझ में नहीं है बोले क्या बोले आपने कहा ना मैं छोटा हूँ ना मैं मोटा हूँ ना मैं लंबा हूँ ना मैं पतला हूँ ना मैं मरता हूँ ना मैं जन्म लेता हूँ तो आप मेरा क्या करोगे रघुगण जी कहते हैं चूल्हा है चूल्हे में हंडिया है हंडिया में पानी है पानी में चावल है पहले चूल्हा किसको गर्म करेगा हंडिया को हंडिया किसे गर्म करेगा पानी और पानी जब गलम गर्म होगा तो वो चावल को क्या कर देगा गला देगा तो रघुगण जी कहते हैं शरीर है शरीर में इंद्रिया इंद्रियों के अंदर ही तो आत्मा बैठा है क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा रघुगण जी रघुगण की बात सुनकर जर भरत जी मुस्कुराने लगे बोले राजा जा रहे तुम हो विद्या सीखने के लिए ब्रह्म और हो तुम बड़े मूर्ख कोई कहे अरे हमने बादल को पकड़ लिया बादल को कोई पकड़ सकता है नहीं नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम छन्नति पावक कोई कहे मैंने ए, ए, जो है आत्मा को पकड़ लिया है जला दिया नहीं आत्मा का आकार श्रीमद भगवत गीता में बादलों की तरह बताया बादल पर्वतों में से निकल के चले जाते हैं कोई जहाज जा रहा होगा और उस जहाज में क्या मजा लगता है कि बादल को ही लेकर चला जाए क्योंकि बादल बहुत सूक्ष्म होता है इसलिए आत्मा भी कैसी होती है बहुत सूक्ष्म होती है इसके विषय में कंठो उपनिषद में लिखा है कि बाल के अगर मेरे बाल को तो देखना ही नहीं मेरे को बाल ही नहीं है बाल के अग्रभाग के हजार हजार हजार हजार हजार टुकड़े कर दो इतना बारीक वो आत्मा होता है जिसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं उसे कौन पकड़ेगा कौन उसे मारेगा इतना बारीक होता है याद इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं श्री भरत जी जट भरत जी कहते राजन यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो सारे अहंकार को त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए भगवान का कल्पत्र कृपा सिंधु भय पति का नाम पावने भयो वैष्णा भयो नमो नमः संतों के चरणों में नमस्कार करना चाहिए जिस दिन नमस्कार करना सीख गए ना उस टाइम भगवान की कृपा आपके ऊपर पानी खूब बरसता है जब बारिश का पानी होता सब पर बरसता है पर टिकता किधर है पर्वतों पर भी गिरता है पानी टिकता का है गहराई है खड्डे में इसलिए भगवान की ज्ञान का प्रकाश सब पर बरस रहा है और जो पर्वत की तरह अहंकारी बने उनके बाद टिकता नहीं है बरसता है बरस के नीचे गिर जाता है पर जिनमें निम्रता का पात्र है ज्ञान उनके पास ही टिकता इसलिए राजन निम्रता धारण कर लो कि पर्वत की तरह अपने अहंकार का त्याग दो इसी में तुम्हारा कल्याण होगा और चौदहवें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया भभाट भी भभाट भी किसे कहते हैं बोले राजन ये संसार एक जंगल है भभाट भी कहते जंगल है ऐसे पुरुष की खोज करो जो इस जंगल के कोने कोने को जानता है और जो तुम्हें इस जंगल से निकाल दे इसलिए जंगल के कोने कोने यानी कि इस भवाटिनी के जंगल के कोने कोने को कौन जानते हैं बोले सदगुरुदेव महाराज की सदगुरुदेव महाराज ही आपको इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं इसके अन्यथा किसी में ये मजा नहीं जो आपको इस जंगल से बाहर निकाल सके और जिसे इस जंगल के बाहर निकलने का रास्ता मत हो उससे दूर हो जाना वो खुद को मर जाएगा वो आपको भी मार देगा इसलिए संसार एक भाग भी है इसी प्रकार से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश राजा रघुगण को दिया कपिला आश्रम जा रहे थे जाना छोड़ दिया राज्य में जाकर अपने भजन में मस्त हो गए और भरत जी महाराज जी भी वहाँ ऐसी चले गए तब कर कर अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर कर परमात्मा का हंस परमात्मा में ही समा गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा अब आइए संक्षेप में भरत जी के वंश को चरित्र श्रवण करते हैं भरत जी के पुत्र सुमति हो कुछ पाखंडी लोग कलयुग में इन्हें बुद्ध का अवतार मानेंगे या भविष्यवाणी की जा रही है लोग क्या कहेंगे ये कौन है ये बुद्ध होगा सुमति की वंश परंपरा में देवता गिद्ध आदि चौदह राजाओं की पीढ़ी के बाद महाराज गाय का जन्म हुआ राजा गाय उत्पन्न हुए और इनको लोग भगवान का ही हंस अवतार मानते थे बोलो गाय महाराज की जय राजा गाय की पत्नी जयंती से तीन पुत्र हुए चित्रता सुगति और अवरोधा इसी वंश में राजा अंतिम हुए विरज और विरज की पत्नी विसूची विसूची से शत्रुजीत आदि दो पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई ये पापों को नाश करने वाला वंश है ये भरत वंश है ऐसे भरत जी महाराज जी को हम नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब यहाँ पर ब्रह्मांड के विषय में बताते हैं ब्रह्मांड कैसा है सात लोग ऊपर सात लोग नीचे नीचे क्या है पाताल तलतल अतल सुतल लोग नीचे भूर बहा सुहा जन महा तप सत सात लोग ऊपर है इसलिए चौदह भवन है कितने भवन है चौदह भवन तो इसमें सात द्वीप है और नौ खंड है और नौ और सात समुन्दर है जो नौ खंड है नौ खंड में भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा होती है इसका वर्णन करते हैं तो सबसे पहले इलावरता खंड इलावरता खंड में श्री महादेव जी विराजमान है तो यहाँ दुर्गा देवी सौ अरब दासियों के संग महादेव का भजन करती है बोलो हर हर महादेव की जय दूसरा है भद्र शर्वा खंड यहाँ भगवान हाय शीश घोड़े के मुख में यहाँ पर विराजमान है घोड़े के मुख में भगवान विराजमान है और यहाँ पर राजा भद्र शर्वा और उनके सेवक भगवान का भजन करते रहेंगे तीसरा है हरिवर्ष खंड यहाँ पर श्री नरसिंह देव विराजमान है और भगवान नरसिंह देव का भजन उनके उनके भक्त प्रहलाद महाराज जी करते हैं बोलो प्रहलाद महाराज की जय इसी तरह चौथा केतुमाल खंड है केतुमाल खंड में श्री कामदेव के हंस यानी के प्रभु महाराज जी विराजमान है और यहाँ पर प्रजापति खुद सरा अपने पुत्रों और पुत्रियों सहित भगवान हसीकेश की उपासना करते हैं हसीकेश किसे कहते इंद्रियों के स्वामी भगवान बोलो हसीकेश भगवान की जय पांचवा रमयक कंड है यहाँ भगवान मत्स्य देव विराजमान है और भगवान मत्स्य देव का भजन विवासत मनु जी करते हैं बोलो मत्स्य भगवान की छठा है हृणामय खंड यहाँ भगवान कच्छप विराजमान है और यहाँ भगवान कच्छप की आराधना भगवान अरियमा करते हैं और कौन है अरियमा हमारे पितरों के बड़े हैं बोलो अरियमा महाराज की जय सातवा है कुरुखंड यहाँ भगवान महाराज विराजमान है और माता पृथ्वी और अन्य यहाँ के वासी भगवान बरा की पूजा करते हैं